यसे तो धर्म मात्र में विदम निरवम तस्य भोगा भाव धर्म और धर्मी में अत्यंत भेद मानता हुआ धर्म को ही सब कुछ मानता है धर्मी है ही नहीं मोलता है योगाचार मत अवयवी है ही नहीं तो परमाणु पुंज ही जो अवयव है अवयव समूह ही सब कुछ है धर्मी नाम को चीज मानता ही नहीं धर्म मात्र में वम सर्वम धर्म में इदम सर्वम अद निरन्वय अजय समस्त धर्म इसमें एक अनुसूत नहीं है इस कुंडलादि कार्य है वह कारण में कोई अनुसूत नहीं कारण मानता है जो कुछ भी है विज्ञान ही उसमें दिखाई दे रहा है अजय कोई कारण वारण कुछ कार्य मात्र में विदम सर्वम अजय निरन्वय यदि ऐसा मानेगा तो उनके मत में यश्य मते तस्य मते भोगावा जिनके मत में ऐसा माना जाएगा उनके मत में किसी चीज का उपभोग नहीं कर सकते क्यों अकस्मात क्योंकि अन्य विज्ञान कृत से कर्मण अन्य कथम भोक्तृत्व अधिक्रियता एक क्षण विज्ञान कोई कर्म किया और वह क्षण विज्ञान अगले में नहीं रहा अगला क्षण में अगले क्षण में आवे जो क्षण विज्ञान वो दूसरा ही है तो उसको कर्म भोग कहां से मिलेगा जिसने किया ही नहीं अभी आया है और जिसने किया वो नष्ट हो गया अपना फल भोगे भी नहीं चला गया कृत विप्रणाश अकृत अभ्यागम दोष आ जाए है कि नहीं कि जिसने जो कर्म किया उसको फल मिले भी नहीं वो नष्ट हो और जिसने कोई कर्म किया ही नहीं था तो वो कहां से तो पैदा हो गया अचानक और उसको भोग कैसे मिलेगा इसलिए कहते अन्य विज्ञान कृत्य अन्य विज्ञान अनिक्षण विज्ञान के द्वारा किया हुआ जो कर्म का फल भोग कर्मणो अन्य कथम मानी दूसरा कोई क्षण विज्ञान कैसे उपभोग करेगा अन्य कथम भोक्तृत्व अधिक्रिय तस्मृत्य भाव और दूसरा दोष क्या है स्मृति का भी अभाव होना चाहिए आप जो कल पढ़े हैं और आज बैठ रहे हो तो कल की कुछ भी स्मृति में नहीं होनी चाहिए स्मृति में रहता है फिर कल जो अनुभव किया है वही इस समय में है ये मानना पड़ेगा लेकिन एक ही कल और आज का दोनों के क्रियाओं का अनुसंधाता नहीं मानोगे तो कल के अनुभवों को आज कोई स्मृति नहीं कर पाएगी इसलिए कल की अनुभूति और आज की जो अनुभूति कल की क्रियाओं और आज की क्रियाएं कल के कर्म और आज के कर्म इनको अनुसंधान करने वाला एक अनवयी और निरन्वयी मानते ना हम लोग सानवयी मानते हैं जिसे ना सो अनवयी धर्मी कल जब पाठ समाप्त होता तो क्या लिखा सो अनवयी धर्मी वो अनवयी जो सकल में अनुव्याप्त होकर के रहने वाला कुंडल में भी वही था जो है आपने बना दिया उसके माला तब भी वही है कौन सोना इसे सोने को हम क्या कहेंगे धर्मी घड़ा था तो भी मिट्टी है सकोरा है तो मिट्टी है कुल्लड़ बना है तो मिट्टी है यानी वो मिट्टी एक ऐसा चीज है जो सभी कार्यों में अनुसूत है अनवयी है उसको हम धर्मी मानते हैं और ये भी विशेषता है आगे बताएंगे उत्तरोत्तर धर्म जो है के प्रति पूर्व पूर्व धर्म भी धर्मी हो जाएगा पूर्व पूर्व धर्म भी धर्मी हो जाएगा जैसे घट के प्रति पिंड भी धर्मी है और घट धर्म हो जाएगा और जब पिंड को धर्म कहोगे तो मृतिका धर्मी हो जाएगी है कि नहीं इस तरह से पूर्व पूर्व जो धर्मी उत्तरोत्तर धर्म के प्रति धर्म माना जाता है अरे जो धर्म है वह भी धर्मी कोटि में आ सकता है यदि उसका भी कोई कार्य उत्पन्न हो धर्म उत्पन्न होने वाला हो तो धर्मांतर परिणाम होने वाला हो तब माना जाएगा नहीं तो नहीं स्मरणम अपनी इसी पर स्मृत्य भाव नान्य दुष्ट स्मरणम अन्य शास्त्री अन्य ने देखा और स्मरण किसी और ने कर लिया ये हो नहीं सकता है वस्तु अच्छा और तीसरा है तो वस्तुओं की प्रतिविज्ञा होती है है कि नहीं जो वस्तु था जो कल था उसी को मैं आज देख रहा हूँ जो कल पुस्तक थे वही पुस्तक को आज देखा आपने कि दूसरा आ गया आज वही है इसलिए वस्तुओं का प्रतिविज्ञा से भी निर्णय होता है कोई न कोई अन्वयी जरूर विद्यमान स्थितो अन्वयी धर्मी एक अन्वयी धर्मी नाम का वस्तु स्थित हो गया सिद्ध हो जाता है यो धर्म अन्यथात्म अभिगत प्रतिविज्ञा थे जब केवल धर्म की अन्यथात्व हो रहा है कार्य के अन्यथात्व को प्राप्त होता हुआ सदा हमें अनुभव में प्रतिविज्ञा को प्राप्त हो रहा है यद्यपि जो कल पुस्तक था वही आज नहीं है विचार करके देखें जो कल था वो आज नहीं है 24 घंटा बीत गया 24 घंटे का काल लक्षण परिणाम हो चुका है जो कल था जो वर्तमान मान रहे थे वो अब क्या हो गया है अब अतीत हो गया अब तो अतीत हो गया जो कल था और जो कल नहीं था वो अब क्या और का है वर्तमान और का तो लक्षण परिणाम तो हो रखा है इस परिणाम के कारण से इसका आयु घट गया कि बढ़ गया हाँ लोग तो कहते बढ़ रहा है हमारे उम्र हम तीस से बत्तीस हो रहे बत्तीस से पैंतीस हो रहे हैं बढ़ रहा है उम्र बढ़ रहा है नहीं बढ़ नहीं रहा है उम्र घट रहा है जो आपका आयु रहा है सत्तर रहा अस्सी रहा सौ रहा जो भी है तो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है इतना साल में मरना है तेरे को उसमें से घट रहे हैं हम बढ़ नहीं रहे अरे लोक व्यवहार में जो है दुनिया व्यवहार में ऐसे कर दिया कि आपको भ्रांति में डाल रखा है अरे मेरा बेटा बड़ा हो रहा है इसकी बढ़ रहा है वो भी सोचता कि मैं बढ़ रहा हूँ अहंकार लेकिन नहीं आता उसको मैं घट रहा हूँ मैं मौत की ओर जा रहा हूँ तो मालूम नहीं होता विवेक करने का अवसर नहीं देते ये संसारी ऐसा विचित्र चाल है आपका विवेक होने नहीं देगा हर बात को ऐसा उल्टा बना रखे हैं और आपको विवेक करेंगे तो कहेंगे तो मानेंगे भी नहीं वो हाँ? तो कहेंगे आधा पागल हो गया साधु है हाँ डांट देंगे ऐसे बातें करते हो इसलिए वास्तव में धर्म के अनर्थात्म अभिभूत हाँ, प्रतिविज्ञा तस्मात नेरम धर्म मात्र निरमय विधि इसलिए वो जो योगाचार आदि का मत है शनि विज्ञानी सब कुछ है वो निरन्वय होता है धर्मी नाम का चीज नहीं होता यह उनका मत बिल्कुल उचित नहीं है प्रासंगिक कथन करने के बाद फिर वापस लौटते हैं कहते हैं इसमें कारण क्या है परिणाम का कारण क्या है वो बताना है धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम का वर्णन किया और यद्यपि एक ही परिणाम है धर्मी में ही सकल परिणाम हो रहा है उसी को समझाने के लिए तीन प्रकार के परिणाम का वर्णन कर दिया गया था अब वो जो परिणाम का कारण है क्रमान्य क्रमान्यत्व परिणामान्यत्व हेतु हो क्रमान्यत्व ही परिणाम के अन्यत्व के प्रति कारण है एक से धर्म ने एक ही परिणाम प्रसक्त है ये शंका हो सकता है एक धर्मी का एक ही परिणाम होगा दो नहीं हो सकता सोना से आपने कुंडल बना दिया बस बन गया बात खत्म और कुछ नहीं बनेगा ऐसा नहीं प्रसक्ति तो यही है एक धर्मी है उसका एक ही कार्य होना चाहिए एक कारण का एक ही कार्य होगा एक धर्मी में एक ही धर्म का आभान हो सकता है तब उसका सिद्धांत कहते नहीं नहीं क्रम को उल्टा कर दो तो अलग हो जाएगा एक धर्मिणा एक ही परिणाम जी प्रसक्त है तद नहीं वह परिणाम अन्यत्व क्रम की अन्यत्व ही परिणाम में अन्यत्व का कारण हो जाएगा जैसे एक रेखा पहले दृष्टान दिया ना एक लाइन आपने डाला है यानी उस एक रेखा का अर्थ तो कुछ भी हो सकता है क्रम की अन्यत्व का परिणाम में अन्यत्व हो गया वो एक का क्रम कहाँ रखा हुआ है आपने शून्य शून्य के बाद रखा है बिंदी रख करके शून्य लिख करके एक रख दिया पर डेसिमल जीरो वन अर्थ अलग हो गया वो वन जो रेखा है वो वही है और पीछे कुछ नहीं लिखा आगे एक शून्य डाल दिया तो गया दस दूसरा शून्य डाल दिया तो सौ रेखा तो वही है लेकिन क्रम अन्य हो गया वो शून्यों का क्रम बिंदी का क्रम अब हंड्रेड पॉइंट जीरो जीरो लिख दो तो कितना होगा वो एक शून्य शून्य दशमल शून्य शून्य लिख दीजिए तब क्या होगा शून्य सो ही रह गया है ना फर्क कुछ नहीं पड़ता और उल्टा भी शून्य शून्य एक शून्य शून्य दशमलव शून्य शून्य कर दो तब भी सो ही रहेगा इसे सारा क्रम आपने अपना खोपड़ी में तय किया यदि वहां भी क्रम अंतर पड़ रहा है एक शून्य कहीं भी बढ़ा बड़ा बदल तो गया लेकिन अर्थ में तो बदला नहीं क्योंकि आपने क्रम निश्चय किया ऐसा रहेगा तो यही अर्थ होगा शून्य शून्य एक लिख दोगे तब उसका अर्थ एक ही होता है जब दशमल ना रखो है ना एक दशमल रख दिया है डेसिमल डाल दे point zero zero one point निकाल दो तो क्या अर्थ होगा जीरो जीरो वन अर्थ वन ही होता है क्यों ये क्रम विशेष को आपने तय कर लिया ऐसे ऐसे क्रम में रहेगा उसका ये अर्थ होगा और क्रम को विपरीत कर दिया और कुछ और अर्थ आपने ले लिया और कहीं पर कहते कोई अर्थ नहीं फर्क पड़ता देखने में क्रम अन्य हो गया फिर भी परिणाम में अन्यत्व नहीं है या नहीं तो ये सारी निर्णय जो कैसे हुआ आपकी अपनी एक लौकिक व्यवस्था जो स्वीकार किया गया उसके आधार पर आपने माना क्रम अन्य सती परिणाम अन्यत्म उपस्थित अकर्म अन्यत्व परिणाम अन्य नास्तिक ये व्यवस्था आपकी अपनी है लेकिन जो सत्प्रस्तम गुणों की जहां तक बात चलती है वह किंचित विक्रम बदल जाए परिणाम अन्य माना जाता है वहां तुम्हारा नियम लागू नहीं होगा वहां अपना लौकिक नियम लागू नहीं हो सकता सृष्टि की व्यवस्था के अंदर जो होती है वह आपके अपने मनमर्जी नियम लागू नहीं होगा जैसे पहले शेरों में नापते थे है ना शेर द्रव्यों के लिए और सोना चांद पलों में गिनते थे एक पल दो पल है ना इस तरह से गिना जाता था और दूध पानी आदि के लिए लीटर होता था है? और फल वगैरह के लिए संख्या मात्र दस बीस एक दर्जन दो दर्जन और आज सब कुछ किलो में हो गया आप दूध खरीदो किलो में एक किलो दूध दो किलो दूध एक किलो केला दो किलो सेव वो भी सेव किलो में हो गया ये आपने अन्यथा तो कर लिया आपने अपने सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया और सबने उसको मान के चला रहे चल रहा है लेकिन सृष्टि की व्यवस्था में जीव के अपना कोई भी हस्तक्षेप नहीं चल सकता वहां पर तो क्रम अन्यत हुआ तो निश्चित परिणाम में अन्यत होगा इसे एक धर्म एक ही परिणाम है क्रमान्वित परिणाम अन्य हेतुर्भवती थी तद यथा चूर्णम चूर्ण मृत पिंड मृत घट मृत कण मृत च क्रम चूर्ण मृतिका थी उस चूर्ण मृतिका को आपने पिंड मृतिक बना दिया और पिंड मृतिका से घट मृतिका हो गया और उसको फोड़ दिया तो वापस कण मृतिका हो गया वापस चूर्ण में पहुंच गया इसी से क्रम या सीधे कण कह दिया आप ले सकते हैं कपाल कपालिका पहले कपाल हो गए और कपालिका को तोड़ दो तो कपालिकाएं हो गई कपालिका से उसको भी तोड़ दो पंचाणो चतुश्रणो त्रसरेणु द्विणु को परमाणु तक ले जाओ कण तक ले जाओ कोई दिक्कत नहीं आप जितना बोलना चाहो बोल सकते हो क्रम में और लेकिन वो विसंगत नहीं होनी चाहिए इतना ध्यान रखना है ये धर्म परिणाम क्रम हाँ, ये धर्म के परिणाम में क्रम है इसी प्रकार से लक्षण परिणाम क्रम ये तो पहले हो चुका है दोबारा याद दिला रहे घटस्य अनागत भावार्थ वर्तमान भाव क्रम घट जो अनागत भाव में था वो वर्तमान भाव को प्राप्त करना एक क्रम है पिंड से वर्तमान भाव जो पिंड था पहले अब वो पिंड नहीं रह गया वो क्या हो गया अतीत भाव को प्राप्त कर गया लेकिन अतीत का भी कहीं कुछ होता है क्या कहते नातीत अस्थि क्रम जो बीत गया सो बीत गया उसका फिर वो आगे आएगा नहीं वो अनागत भाव में आ जाए दोबारा फिर वहां से फिर वो वर्तमान को होने लग जाए ऐसा नहीं होता वर्तमान भाव क्रम एक हो दिया ना न क्यों अकस्मात पूर्ण परतायाम सत्याम तत्व क्योंकि पौरोत्तरता के स्वीकार के बिना एक के अंतर दूसरा यह क्रम की व्यवस्था नहीं हो सकती क्रम के अन्यत्व के लिए पौर्वापरि की अपेक्षा है और वो अतीत का किसी अन्य के साथ में पौर्वापरिता की व्यवस्था नहीं मानी गई है सात नास्ती अतीत इसे अतीत के अंदर पौर्वापर्यता नहीं है तस्मात दो रेव लक्षण यो क्रम इसे लक्षण क्रम में क्या होता है दो ही लक्षणों का क्रम अनागत लक्षण का क्रम होता है वर्तमान में आना वर्तमान लक्षण का क्रम होता है अतीत में हो जाना अतीत लक्षण का कोई क्रम नहीं होता इस तरह से लक्षण क्रम की बात भी लक्षण परिणाम अंतर्गत क्रम का विचार हुआ अब गए तथा अवस्था परिणाम क्रम इसी प्रकार से अवस्था परिणाम का क्रम भी समझो घटस्य अभिनवस्य प्रांति पुराणता दृश्य थे घटस्य अभिनवस्य अभिनव घट के अंत में पुराणता देखी जाती है एक नया घट आज बनाया और कुछ दिनों के बाद तो उसमें पुराणत्व का अनुभव होता है नया कपड़ा सिलाया चाहे देखो नया कपड़ा पहन लिया लेकिन आप जो कह रहे हैं नया कपड़ा पहना किस दृष्टि से कह रहे हैं जिस धर्म परिणाम को देख रहे उसके आधार पर नहीं तो वो भी पुराना है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डाला रहता है ना इसीलिए हर चीज है और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखोगे तो पता रहता है कितना पुराना है आपने आज लिया आप जो नया हो गया वो भी वहां दे दो कपड़ा को दर्जी के पास एक महीना से पड़ा है है ना वो एक महीना लगाया वो टेलर बनाने में अब आपको दिया अब कहीं नया कहा नया एक महीना पुराना तुमको ही खरीद करके हो गया नहीं नया कपड़ा है नया पैंट शर्ट है नया कोट है यही बोले हैं और वो पहने पहने फिर साल भर हो जाए तब कहना पड़ता है मजबूरी में नहीं पुराना है साल भर पुराना कहा जाओगे कहीं ना कहीं तो पुराना मानना ही पड़ जाएगा उसे चाला की नहीं चलेगी आप ड्राई क्लीनर को दे दो और ले अगर नया आ गया नहीं नया नहीं हो तब तुम स्वयं कहोगे केवल क्लीनिंग होकर आया है पुराना है तो इसी ने कहते अभिनव का वस्तु का भी प्रांत कहीं न कहीं अंत में जाकर के पुराणता दृश्यते पुराणत्व जो उसका दिखाई देता है साच क्षण परंपरा अनुपाति न क्रमेण अभी व्यज्यमाना पराम व्यक्ति आपत्त तो क्षण परंपरा के अनुपाति होकर के क्रमेश धीरे धीरे वह अभिव्यक्त होने वाला वस्तु एक एक क्षण में भी अंतर हो रहा है लेकिन उसका आप ग्रहण नहीं कराते है ना हर क्षण अगला नहीं आ रहा है तो पूर्व क्षण के जो है क्या हो जाता है पुराना हो जाता है हर सेकंड अगला सेकंड क्या हो गया पूर्व सेकंड की अपेक्षा से नया है और पूर्व सेकंड से अगले के हिसाब से पुराना हो गया लेकिन इसको आप इतना सूक्ष्म ग्रहण नहीं कर पाते इतना सूक्ष्म ग्रहण करने लग जाए तो उसको सब संसार से वैराग्य हो जाए क्यों देख रहा है धड़ाधड़ धड़ा सब चीज पुराने हो जा रहे इतने पुराने हो गया पैंतालीस साल पुराना हो गया आप चालीस साल पुराना हो गया तो आज डरने लगेगा अरे इतना पुराना हो गया अब तो पता नहीं कि तो कब मरी जाएंगे फिर तो तेरे ये सोच रहे हम पैंतालीस साल के जवान है सोचना है तो मूड है और ये सारा काम काम खराब कर दिया उसका उल्टा सोचिए वो पुराना भाव आता नहीं वहां जाए तो फिर सब विवेक चल जाए इसलिए कहते देखो क्रमेण अभिवेच माना पराम व्यक्तिम आपद्यते पराम व्यक्तिम आपद्यते पुराणता रूप चरम अवस्था को पराम व्यक्ति चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है धर्म लक्षणाभ्यान से विशिष्ट अयम तृतीय परिणाम इसे धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम की अपेक्षा से ये तीसरा जो है एक विशिष्ट अवस्था परिणाम ये काल कृत भी हो सकता है देश कृत भी अवस्था परिणाम तो अनेक प्रकार से हो सकते हैं देश कृत भी हो सकती है और संस्थान कृत भी हो सकता है अनेक प्रकार से हो सकते हैं इसे तृतीय विशिष्ट यदि इसको आगे तीसरे अध्याय इसी तीसरे पाल का तेरह सूत्र विषय संक्षेप में विचार हो चुका है तीन तेरह में और तीन बावन में भी होने वाला है संक्षेप में इस विषय में तीन बावन में आगे आगे आएगा ये क्रम धर्म धर्म वेदे सती प्रतिलब्ध स्वरूपा धर्मोपि धर्मी भवती अन्य धर्म स्वरूप अपेक्षा आई थी आगे ना तय क्रम वह जो धर्म क्रम धर्म परिणाम का क्रम लक्षण परिणाम का क्रम और अवस्था परिणाम का क्रम जो होते हैं वह धर्म और धर्मी भेद को लेकर के विभिन्न स्वरूप को प्राप्त होने का वर्णन हम लोगों ने किया है लतेव धर्मोपि धर्मी भवती इसे धर्म भी क्या हो जाएगा धर्मी हो जाएगा किस दृष्टि से अन्य धर्म स्वरूप अपेक्षा उत्पन्न होने वाला अगला कार्य का दृष्टि से इसे उत्तरोत्तर कार्य का दृष्टि से पूर्व पूर्व क्या है कारण हो गया अतः उत्तरोत्तर उत्पन्न हुआ कार्य को ही हम धर्म शब्द से कह रहे और पूर्व विद्यमान कारण को धर्मी शब्द से कहते हैं यदा तो परमार्थ तो धर्मी अभेदोपचार तद्वारेण सएव अभिधीयते धर्म और जब आप परमार्थ था मैंने अलिंगी अलिंगी कौन है मूल प्रकृति प्रधान सतरजतम की साम्य अवस्था उस दृष्टि से कथन करने लगोगे तो क्या होगा धर्म ही रह गया और कुछ नहीं रह गया जैसे एक चित्रपट की अवस्थाएं अलग अलग होती है चित्रपट आपने देखा एक पिक्चर देखते हो कपड़े पर उसने क्या किया पहले माड वोट डाल के उसको टाइट कर दिया बैनर लिखता है ना उसको कड़क कपड़ा चाहिए चार दिन या दो साल पुराना कपड़ा ढीला ढाला कुछ लोगे तो कैसे इसमें लिखेंगे हम लिखा नहीं जाएगा उसको मार रोड में डालेगा तो कड़क बनाएगा ठीक है घटित पट हो जाता है शुद्ध पट से वो घटित पट हो गया और उसे रेखाएं लिख देगा अंकार रेखांकित पट या लांछित पट ऐसा भी कहते हैं अब ऐसा रंग भर दिया तो रंजित पट हो गया आप रंजित पट का दृष्टि से देखें तो अलग व्यवहार हो जाएगा वो धर्म ही रहेगा धर्म नहीं होता और लांचित पट रंजित पट की दृष्टि क्या है धर्मी है लेकिन वह भी धर्म है किसके दृष्टि से घटित पट की दृष्टि से घटित पट की दृष्टि से तो घटित पट धर्मी हो गया लांचित पट धर्म हो गया लेकिन वह भी धर्म है किसकी दृष्टि से शुद्ध पट के दृष्टि से तो शुद्ध पट धर्मी है और वह घटित पट भी धर्म है और क्यों शुद्ध पट का ही दृष्टि से विचार करो तो ये सब धर्म ही है तदवत यहां पर भी वो जो मूल प्रधान है मूल प्रकृति है प्रधान है उसका से विचार करो तो क्या होगा अलंक का दृष्टिकोण से सब परिणाम है वो अपरिणामी वस्तु है इसे कहते हैं परमार्थ धर्मिनी परमार्थ धर्मी कौन है मूल प्रकृति प्रधान में ए, क्या हो गया अभेद उपचार उसी में अभेद उपचार सब कुछ हो रहा है क्योंकि शुद्ध पट से वास्तव में अभिन्न नहीं है घटित पट उसे अभिन्न नहीं है लंच लांचित पट उसे अभिन्न नहीं है रंजित पट तद्वत यहाँ पर भी कर दिया अभेदोपचार तद्वारे न सधर्म एवं थे धर्म लेकिन फिर भी तद्वारण में सामनाधिकरण व्यवहार के द्वारा सामानाधिकरण की व्यवहार के द्वारा वो धर्मी को ही हम धर्म कह देते हैं वास्तव में धर्म और धर्म दो स्वतंत्र वस्तु बनता नहीं सांख्य में सत्कारीवाद में सेवा विधीयते सधर्मी एवं विधीयते धर्म तद तदा अयम एकत्व नहीं क्रम प्रत्योभाषते तब तो वहां एकत्व नहीं क्रम भाषित तो होगा अनेक क्रम नहीं होगा इस प्रकार से ये हो गया कहा का बाह्य जगत के सकल विषयों को लेकर घटपट आदि सारे को लेकर विचार हुआ अब आइए चित्त में भी कोई क्रम चित्त में भी परिणाम उस परिणाम का क्या व्याख्या करो यह धर्म नेता तो नहीं हो सकता लक्षण नहीं हो सकता अवस्था नहीं होती चित्त की या चित्त की भूमियों को आपने केवल माना है चित्त चित्र बूढ़ा होता है ना जवान होता है कालकृत नहीं हो सकता चित्त इस देश में नहीं चाहे किसी देश में रहे कोई उस अवस्था लक्षण परिणाम भी कालकृत लक्षण परिणाम भी नहीं अवस्थाकृत लक्षण परिणाम भी नहीं और इसमें कोई चित्त में कोई धर्मांतर कार्य उत्पत्ति नहीं होता चित्त तो सदा चित्त ही रहता है जैसे मिट्टी घड़ा हो गया कुछ और हो जाता है वैसे होता तो ही नहीं उसमें कुछ तब कहते हैं वहां भी लेकिन हम दो प्रकार के ब्रह्म माने दो प्रकार का कार्य चित्र देखने को मिलेगा चित्त की वृत्तियों में चित्त से द्वय धर्म परिदृष्टाश्च अपरिदृष्टाश्चित एक तो परिदृष्ट है और दूसरा अपरिदृष्ट है तत्र प्रत्यात्मक परिदृष्टा उसमें से भी जो प्रत्यात्मक है वो परिदृष्ट है व्यवहार में ज्ञान हो रहा है घट ज्ञान पट ज्ञान पट ज्ञान हो रहा ना ये सब चित्त का जो इस तरह के जो परिणाम हो रहा है चित्त घटाकार ने परिणाम को प्राप्त हो गया पटाकार ने परिणाम को प्राप्त हो रहा है ये पटा जाकर जो परिणाम प्राप्त होता है उसको कहते परिदृष्ट वस्तु मात्रात्मक अपरिदृष्ट प्रमाण वैसे राग द्वेष प्रमाण है विपर्य है ये सब निद्रा स्मृति ये सब वृत्तियां हैं ये सब के सब परिदृष्ट थे तो प्रत्यात्मक है लेकिन अपरिष्करण जो वस्तु मात्र सामान्यात्मक जो होता है वो परिदृष्ट है तेज सप्तयो वो भी साथ ही होते हैं तेज सप्तयो भवंती अनुमान प्राप्त वस्तु मात्र सद्भाव अनुमान मात्र के द्वारा प्राप्त वस्तु मात्र की सद्भावना जिसको कहते हैं सामान्य तो दृष्टानुमान है ना सामान्य तो दृष्टानुमान है जिसका विशेषण इंद्रियों से अनुभव कर ग्रहण नहीं कर सकते ऐसे सात वस्तु है जो अपरदृष्ट कहा जाता है तदाकर चित्त की वृत्ति जब हो जाते हैं तो चित्त का धर्म को क्या कहेंगे अपरदृष्ट धर्म कहेंगे ये कौन से कौन से कार्य का गिना सुना रहे जो पूर्व वर्णन हो चुका है प्रथम पाद के इक्यावनवे सूत्र में इसका विचार हो चुका था निरोध धर्म संस्कार परिणामो अत जीवनम चेष्टा शक्ति चित्त धर्मादर्शन वर्जिता ये सब धर्म क्या है चित्त का धर्म है चित्ता चित्त से धर्म ऐसे चित्त के धर्म है ये दर्शन वर्जिता ये इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होने लायक वस्तु नहीं है कौन कौन सबसे पहले नंबर में बताया निरोध वृत्ति नाम निरोध नवा संप्रज्ञा समाध्यवस्था उसको आप इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते कि वह ग्रहण ग्राह्य ग्रहित्र समापत्ति का भेद समाप्त हो जाता संप्रज्ञा समाधि में और ग्रहण ही नहीं रह गया तो ग्राह्य कहाँ से आया और ग्रहिता कहाँ व्यवहार करेगा वह इसीलिए इंद्रियों के द्वारा असंप्रज्ञात अवस्था का अनुभव नहीं कर सकते इंद्रियों से परे की चीज है इसलिए वो चित्त का अपरिदृष्ट धर्म विशेष माना जाएगा और धर्म धर्म पुण्य पुण्य पुण्य पाप ये भी आप जब व्यक्ति को देख के अनुमान करेंगे ना व्यक्ति को देखा आपने हाँ त्रिपुट लगा रखा है या तिलक यूँ लगा दिया है कुछ लगा दिया लाल काला पीला नीला कोई हरा पे कुछ भी लगा दिया उसने और कपड़ा वपड़ा पहन रखा लाल कपड़ा कोई काला कपड़ा कोई पीला कोई सफेद हाँ, कहेंगे देखो महात्मा है बड़ा धार्मिक है ना रावण भी इसे ही आया था महाधार्मिक नहीं रावण भी सन्यासी का वेश भी तो आया सीता जी का चोरी करने काल ने भी हनुमान जी ठगने के लिए वैराग्य का व्यस्त क्या आया था पूरा तिलक लोग वैष्णव बन कर गए ढल ढल बजाते हुए नाचते हुए जय राम श्री राम करते हुए आया वो जैसे आजकल विश्व प्रसिद्ध वाले आ जाते जय राम श्री राम जय राम सब काल ने भी दूर थे धर्म के आड़ में घटपट करते नहीं तो कहते कि देखो वो भी क्या इसलिए धर्म और अधर्म पुण्य और पाप है सारा जो चीज होती है वो भी चित्त का इंद्रियों के द्वारा आदर्शनी होने के नाते अपरिदृष्ट धर्म कहा जाएगा संस्कार और आपके संस्कार आपको ही पता नहीं दूसरा क्या जानेगा आपको खुद को पता नहीं रहता है आपके संस्कार क्या है क्या नहीं है इसे साफ है ये तो अपरिदृष्ट इसमें तो कुछ ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है ना सब जानते हैं और खुद के संस्कार अपरिदृष्ट है संस्कार परिणाम जीवनम और जीवन के लिए जो आप करते हैं प्रयत्न विशेष प्राण धारण रूपा प्रयत्न विशेष जो होता है वो जो प्रयत्न विशेष है वो भी आपको दिखा नहीं था किसी इंद्र से मालूम नहीं होता क्योंकि इंद्रिया जब सोई रहती है तभी वो प्रयत्न चलते रहता है इंद्रिया सब सोती रहती जी उसको जीवन योनि भेदा कर प्रवृत्ति निवृत्ति जीवन योनि भेदा करके तार्किक लोग जिसको कहते हैं उसको इन्होंने केवल जीवनम सबसे बोल दिया है यह परिणाम भी अपरिदृष्ट है ये आपको पता नहीं आप जीने के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं ये आपको पता नहीं आप सोते रहते हैं तभी अंदर से आपका प्रयत्न हो रहा है मैं जिंदा रहूं इधर सोते सोते घुटन हुआ तो क्या होता है खट से खड़े हो जाते हो क्यों खड़े हो गए कि वो से आप प्रयत्न कर रहे थे उस प्रयत्न में कहीं घुटन हुआ कोई घोटने लगा कुछ होने लगा तो खड़े हो जाते इसका मतलब जानकर अनजान कर सदा हो रहा है और चौबीस घंटा अप्रयत्न चल रहा है वह भी इसलिए हमारे इंद्रियों के द्वारा अपरिदृष्ट है चेष्टा इंद्रिय प्रवृत्ति चेष्टा से लेना आया इंद्रियों की प्रवृत्ति यह भी क्या है अदृष्ट इंद्रिया क्यों प्रवृत्त हो रहे हैं यह मालूम नहीं आपको कैसे प्रवृत्त हो जाते हैं आपको पता नहीं प्रवृत्त होने के बाद मालूम होते हो गया था है ना आप नहीं भी देखना चाहते उसको देख लेते हैं अब देखने के बाद अरे तो गड़बड़ देख लिया अब क्या करें अब पहले क्यों नहीं समझ में आई ये बात उतना अविवेक वगैरह रहता नहीं ये तो भाई महान ज्ञानी पुरुषों की बात है नहीं सामान्य रूपेण इसका जो चेष्टा है इंद्रियों की प्रवृत्ति है वह भी हमारे द्वारा अपरिदृष्ट है शक्ति कार्य के द्वारा शक्ति का जो अनुमान है वह भी कारण शक्ति का जो अनुमान होता है इस कार्य कारण में अमुक कार्य उत्पन्न करने का शक्ति है ये आपको पहले मालूम नहीं हो सकता आप सोच समझते हैं कोशिश करते हैं चलो वह चीजें बन सकती है यह मानकर चलते हैं और बन जाए तो कहा जाएगा हाँ इसमें शक्ति थी तभी बन गया नहीं तो क्या मालूम होता है पहले से पता चलेगा क्या है इसे बहुत ही सुंदर लौकिक दृष्टांत बड़ा मोटी बुद्धि वाले को समझ में आ जाती है हाँ। अब एक लड़का मान लो शादी करना है उसे क्या मालूम है जिसे शादी कर रहा है उसमें जो है गर्भ धारण शक्ति है या नहीं ये बांझ है या नहीं पता चलेगा नहीं और उस लड़के भी आंख बंद श्रद्धा से विश्वास से शादी कर लेती उसे क्या मालूम लड़का नपुन है या नहीं उसे क्या मालूम लेकिन जब पैदा हो जाता है बच्चा तो हाँ ये तो ठीक है लड़का पैदा हो गया ना फैक्ट्री से निकल गया प्रोडक्ट तो मान लिया क्या हाँ, देखो शक्ति थी इसके अंदर प्रजनन शक्ति विद्यमान है तो प्रजनन शक्ति की था तो कार्य के आधार पर आपने अनुमान इसलिए शक्ति अपरिदृष्टम कार्य परिदृष्ट नहीं था लेकिन कार्य उत्पन्न होने के बाद में निश्चय कर लिया अमुक इस वस्तु में यह शक्ति है शक्ति ये चीजें हो गई ये सात चीजें ना निरोध धर्म संस्कार तीन जीवन चेष्टा शक्ति तीन छह और परिणाम और परिणाम भी ले अथ परिणाम परिणामो अथ है ना परिणाम चरण ये साथ मिलाकर के चित्त से धर्म दर्शन वर्जिता हाँ, ये चित्त के धर्म है जिसके दर्शन से आप रसदार रहित रहते हैं कि चित्त का जो परिणाम है वो भी आपको नहीं दिख ये दिखाई देने लग जाए मालूम होने लग जाए ये परिणाम हो रहा है तुरंत तो नियंत्रण भी कर सकते थे लेकिन परिणाम इसमें सदा अपरिदृष्ट ही है सात्विक परिणाम हो रहा है ये राजस परिणाम है या तामस परिणाम है ये तो अनुमान से करना पड़ता है इसे हम कहते हैं डायरी बनाओ लिखो अनुमान कर सकेंगे ताकि ढंग से कि प्रतिदिन आपके कितने घंटे सात्विक वृत्ति थे कितने घंटे राजसिक थे कितने घंटे तामसिक थे ये तय कैसा होगा आपको लिखना पड़ेगा मेहनत करना पड़ता है फिर उसके आधार पर एक महीने का बैठाओ और देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो निर्णय ले सकेंगे आपके अपने संस्कार क्या है वासनाएं क्या है चित्त के परिणाम का स्वरूप क्या है फिर उसी अनुसार आपको बदलाव लाओ रहन सहन में खाना पीना घूमना फिरना उठना बैठना हम्म, जान जाए पहले तो एक महीना प्रयास करना पड़ेगा ना कोई आया आपके पास से आपने बात किया उसका नतीजा क्या हुआ उसका असर कितने घंटों तक चली आपकी खोपड़ी पे होता है ना कहीं कहीं कोई आके ऐसे बात कर जाते हैं कई घंटों तक दिमाग गर्म रहता है है कि और कोई कोई आके ऐसे बात बोल जाते हैं ऐसा ठंडा पड़ता है आदमी दो दिन तक लगता है बड़ा है मरी गया कुछ करने की इच्छा नहीं होती ढीला ढाला पड़ा रहता है इसलिए लोगों का आना जाना उनका बात सुनना बड़ा खराब होता है साधक के लिए बहुत सोच समझ के करना पड़ता है किससे मिलो किससे न मिलो किससे बात करना नहीं करना किसका सुनना नहीं सुनना बड़ा समझदारी से काम करना पड़ता है जो कोई भी आ जाए सबसे उठो बैठो तो आपका सारा साधना चौपट हो जाएगा उसका असर पड़ता है ना तो इसीलिए कहते हैं ये सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए चित्त के परिणाम को भी हम वैसे आप साक्षात इंद्रियादियों से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते ये अनुमान के द्वारा ही जाना जाता है कि दृश्य परिणाम है ये सात चीज इस प्रकार की हो गई प्रासंगिक सारी बातें हो गई अब वापस लौटते हैं अतो योगिना उपात सर्व साधन से प्रतिपत्ति संयम से विषय उपक्षित कहते हैं इसलिए योगी के उपात सर्व साधन से जो सभी साधनों को ग्रहण किया है कौन से कौन से ध्यान तक सारा यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान यहाँ तक अब चर्चा हो चुकी है ना वहां तक के सारे के सारे उपात सर्वसाधन गृहित सर्वसाधन भूत सिद्धार्थ प्रतिपत्ते और क्या चाहता है आठवां समाधि उसमें भी निर्विकल्प समाधि चाहता है और निर्विकल्प की अवस्थाओं में से धर्म एक समाज जो कैवल्य प्रापक समाधि है उसको आप चाहते हैं भूगुत सिद्धार्थ प्राप्ति करने के लिए संयम से विषय उपक्षिप्त और संयम का जो विषय है उसी को दोबारा उपक्षेप कर कथन करते हैं अवतरण किया जा रहा है संयम के विषय का अवतरण करते हैं क्या है संयम का विषय परिणाम संयमात अतीत अनागत ज्ञानम परिणाम त्रय में संयम करने से अतीत और अनागत ज्ञान हो जाए परिणाम धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम किसी भी वस्तु को लीजिए और उस वस्तु का धर्म परिणाम लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम पर आप ध्यान करने लग जाओ संयम करो मैंने धारणा समाधि तीनों को इकट्ठा करने लग जाओ तो क्या होगा अतीत और उस वस्तु विषय का अतीत ज्ञान और उस वस्तु विषय का अनागत ज्ञान पूरा हो जाएगा इसलिए महान ज्योतिषी होना है तो महान योगी होना पड़ेगा जब महान योगी नहीं होगा तो महान ज्योतिष नहीं हो सकता कि जिसकी कुंडली आ गई उस कुंडली पर उसको ध्यान करना पड़ेगा उसकी उसके सब ग्रहों का धारणा करेगा वो हाँ कौन सी राशि में कितने अंश में कैसा कैसा है उसकी धारणा करनी पड़ेगी उसी के पर ध्यान करना उसी में समाधि कर देना तो संयम जब करेगा तब उस बच्चे के बारे में अनागत और अतीत दोनों ज्ञान इसे क्या है ना astrology is matter of intuition जो ज्योतिष है ये आपके आंतरिक एक विशेष शक्ति विशेष का है वो बुद्धि का खेल नहीं है बुद्धि से समझ लिया धारणा की नहीं जरूरत है वो कौन सी राशि में कौन सा ग्रह है कितने अंश में है वो कितनों से परिदृष्ट है कितनों से अपरिदृष्ट है कौन कितने मित्र है किसके कितने शत्रु है ये सब धारणा करके बैठा चुप उसके बाद सोचना बंद और अपने आप अंदर से उसको क्या उपाय बताना है वो आने लगेगा अतीत और अनागत के आधार पर सब कुछ निर्णय हो सकता है बहुत सारे ज्योतिषी हैं जो अतीत को सही बताते हैं कि अनागत के बारे में कुछ नहीं बता तो गणित के आधार पर आप अतीत का तो वर्णन कर सकते कुछ हद तक लेकिन अनागत का वर्णन करना असंभव इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके प्रार कर्म को पता नहीं उसकी वासनाएं संस्कार कुछ पता नहीं उसका लक्ष्य प्रवृत्ति प्रयोजन कुछ मालूम नहीं तो कैसे बताओगे अनागत इसका क्या होने वाला है इसलिए क्या करना पड़ता है वो अंत प्रेरणा को छोड़ना पड़ता है अंत प्रेरणा का नाम इंट्यूशन स्वतः अंत प्रेरणा जो होती है उसी के आधार पर जो करेगा तो सच उसके लिए क्या है परिणाम परिणाम में वो भी है ना लक्षण परिणाम है कालकृत धर्मकृत भी है ग्रहों को लेकर अवस्थाकृत भी है इन तीनों परिणामों को लेकर के यदि संयम करेगा किसी भी विषय में करेगा तो दृष्टांत दिए तो किसी भी विषय में आप ये घट को लीजिए या कपड़ा को लीजिए पता लग जाए कपड़ा कब फटने वाला है कब फटेगा कब खराब होएगा मालूम कोई भी चीज हो उस पर संयम किया जाए उसके अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है लेकिन इन चीजों में करके फायदा है अब कलम कब खराब होगा जानने दीजिए अगर फेंको जब खराब होगा वो फेंक देंगे दूसरा तो करेंगे क्या काम करते और उसके पीछे जिंदगी खराब करोगे अपने साधना पर उसमें लगा दोगे उचित नहीं है ये सांसारिक पदार्थों में से संयम करना उचित नहीं होता इसे अपने चित्त पर जो है सीधा करना पड़ेगा चित्त की अतीत अवस्थाएं और अनागत अवस्थाओं का ज्ञान हो जाए ताकि सम्यक मार्गदर्शन देने पर वह अपने स्वरूप की ओर जा सके इसे परिणाम संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम धर्म लक्षण अवस्था परिणामेश संयमाद धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणामों में संयम करने से योगी नाम भव्य अतीत अनागत ज्ञानम योगियों को अतीत और अनागत ज्ञान हुआ करेगा धारणा ध्यान समाज त्रयम एकत्र संयम ये बात पूर्व में कह चुके हैं धारणा ध्यान समाधि तीनों को एक विषय संबंधी कर दिया जाए तो उसी का नाम संयम होता है तेना परिणाम त्रयम साक्षात क्रियमाणम अतीत अनागत ज्ञानम तेज संपादयती इसलिए तेना उस संयम के द्वारा परिणाम त्रयम साक्षात क्रियमाणम परिणाम त्रय का साक्षात्कार करने पर जिस किस विषय की साक्षात्कार कर लोगे तो अतीत अनागत ज्ञान तेषु तेज तेषु तेषु एवं संपादयती चित्त सत्व में स्वभावतः सर्वार्थ द्योतक स्वभाव रजस्तम मल प्रतिबंध से संयम प्रक्षय सदी प्रमाणम अनपेक्ष सर्व जानाती भाव इसका तात्पर्य क्या है हमने अलग से लिखा है चित्त सत्वम ही स्वभाव चित्त का स्वभाव सत्व प्रकाश उसी उसमें उसको अच्छा लगता है जैसे आपको कितना ज्ञान मिलते जाता है उतने आप खुश होते हैं है ना मार्क्स कार्ड देखते हैं ना तो अंक आता है ना अंक तालिका उसको देखते सत्तर मिल गया आपकी बात अच्छा पिछले बार साठ बढ़ गया वसी हो जाए और खुश हो क्यों जितना वो बढ़ेगा उतना आप समझते हैं कि मेरा ज्ञान बढ़िया है बढ़िया हमने लिखा है बढ़िया हमने पढ़ा है, हैं इसलिए बढ़िया मार्क्स मिल रहा है तो खुश होता है वो सब तुम्हें और वही कहा तो फेल हो गया लटक जाए और कम आ जाए तो दुखी हो जाए चित्त का स्वभाव क्या है सामान्य रूप नहीं देखने को मिलता है वह सत्य प्रकाशक स्वभाव वाला है उसी में उसको जो प्रसन्नता है अन्य में नहीं है अतएव सर्वार्थ द्योतक स्वभाव सकल पदार्थों का प्रकाशक स्वभाव चित्त के अंदर उस स्वभाव को हमें निखारना है और संस्कार वासनाओं के कारण से रजगुण आ जाता है कभी तमोगुण आ जाता है वो स्वभाव को दबा देता है इसलिए विवेक होता नहीं विवेक का अभाव का कारण क्या है आप अपने चित्त के जो सत्य स्वभाव को आपने दबा के रखा है और चित्त के रजोगुण के स्वभाव को चित्त के जो है तमोगुण जिसके वास्तविक स्वभाव नहीं था आनुषंगिक है उसको आपने प्रधानता दी है महत्व दीजिए और उसके अनुसार आप चलते हो इस चित्त का अपना सत्व स्वभाव जो सर्वार्थ प्रकाश का स्वभाव था वो दब गया अभिभूत हो गया इसे सभी तर अधिकतर क्या है रजोगुणी है या तमोगुणी प्रधान होकर जीवन चलता है सत्वगुण प्रधान जीवन तो थोड़े थोड़े होता है असदगुण प्रधान हो जाए तो रजोगुण तमो जब शांत हो जाता है तो अतीत अनागत सर्वज्ञान हो जाता है वो सर्वज्ञ हो जाता है इसे कहते हैं रजस तमो मल प्रतिबंध से संयम प्रक्षय सती इस चित्त के परिणाम त्रय में संयम करने से क्या होगा रज और तमो जन जो मल रूपा वस्तु है प्रतिबंध है उसका प्रक्षय हो जाता है संयम के द्वारा जब संयम से वो प्रक्षय हो गया तब प्रमाण मानपेक्ष इंद्रिया किसी भी प्रमाण की अपेक्षा किए बिना चित्त को स्वतः ही सर्वज्ञता आ जाता सब चीजों को ज्ञान लेता है चित्तम सर्वम जाना चित्तम सर्वज्ञम भवती चित्त सबको जान करके चित्त सर्वज्ञ हो जाते इसका फल है इसलिए संयम का अभ्यास इन उससे पूर्व सर्व साधन उपात से उपात सर्व साधन से बोले थे ना सब साधन उपात हो तभी संयम सही सही होता है और सभी चित्त परिणाम में संयम होने लग जाए और चित्त के परिणाम में सात्विक धर्म लक्षण और अवस्थाओं का सत्वांश से जन्य धर्म सत्वांश से होने वाले लक्षण सत्वांश और अवस्था परिणाम में जब ध्यान करने लग जाता है स्वयं करेगा तो सर्वज्ञ तक हो सकता है ओम पूर्ण